बुदैल ने अता बिन अबी रबाह से और उन्होंने सफवान बिन याला से रिवायत की कि याला बिन मुनई रजी अल्लाह तु का एक मुलाजिम था किसी आदमी ने उसकी कलाई को दांतों से काटा उसने उसे खींचा तो उसका सामने वाला दांत गिर गया मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाया गया तो आपने उसे रायगा करार दिया और फरमाया तुम चाहते थे कि उसे यानी उसकी कलाई को इस तरह चबा डालो जिस तरह सांड चबाता है सही मुस्लिम حدیث نمبر چار ہزار تین سو انہتر